शाम होने वाली थी सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा था आज मौसम भले ही थोड़ा साफ था लेकिन हाल के दिनों में हुई जोरदार बारिश के कारण मौसम अभी भी थोड़ा ठंडा बना हुआ था विक्रांत इस वक्त नैना की लैंड रोवर में ड्राइव ड्राइवर के बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था जबकि नैना इस वक्त ड्राइविंग कर रही थी बेबी विक्रांत ने अपने बगल में बैठी हुई नैना की तरफ देखते हुए कहा तुम्हें नहीं लगता हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं मेरा मतलब अभी हमारे पेरेंट्स से मिलना जरूरी है क्या हम बाद में भी तो मिल सकते हैं अभी इतनी इमरजेंसी क्या है अभी तो मैंने ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हाँ आज ही जरूरी है और बस छोटी सी डिनर पार्टी ही तो है उसमें क्या हो जाता है लेकिन हाँ एक चीज का ख्याल रखना तुम उन लोगों के सामने बिल्कुल कंफर्ट मोड में मत आ जाना हाँ प्लीज मेरे से थोड़ा दूर ही रहना वैसे तो उन लोगों को हमारे रिलेशन के बारे में पता ही है लेकिन फिर भी प्लीज मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ सो नैना की बात सुनकर विक्रांत हंस पड़ा अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो मैं स्पेशल टीम का टीम लीडर हूँ देखना तुम्हारे पेरेंट्स मुझे एक नज़र में पसंद कर लेंगे नैना ने फिर सिर हिलाते हुए कहा देखो ये डिनर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रखा गया है वहाँ पर काफ़ी गेस्ट आने वाले और वो लोग काफ़ी रिच और हाई फाई लोग हैं हमारे फैमिली बिजनेस से जुड़े बहुत से लोग भी वहाँ आ रहे हैं सो so, जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है ओ तो तुम्हारा मतलब ये फैमिली मीट नहीं होने जा रहा विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा तो एक पुलिस कार उसकी गाड़ी के ठीक पीछे चली आ रही थी इस कार में हर्ष अनुष्का हर्षित और रूही भी सवार थी अब समझा कि तुमने मेरे पीछे मेरी टीम मेंबर्स को भी अपने घर डिनर के लिए क्यों इनवाइट किया है आज तुम्हारे घर पार्टी है ना तुम्हारी टीम मतलब नैना ने गाड़ी का गियर बदलते हुए कहा अब ये सब मेरे मेरे भी तो टीम मेंबर हैं अब मैं ही तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की डिप्टी टीम लीडर हूँ so please oh sorry sorry deputy team leader साहिबा विक्रांत ने मजाक में अपना कान पकड़ते हुए कहा नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए हल्की सांस छोड़कर देखने लगी इस वक्त विक्रांत भी बड़े ध्यान से नैना की तरफ देख रहा था वो आज उस दिन को याद कर रहा था जब उसकी नैना से पहली बार मुलाकात हुई थी लेकिन उससे भी पहले पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में विक्रांत और नैना की भिड़ंत हो चुकी थी फिर जब वो दूसरी बार नैना से मिला था तो उस वक्त विक्रांत शायद अपना दूसरा मर्डर केस सॉल्व कर रहा था और उस केस के सिलसिले में ही वो पनवेल पुलिस ब्रांच गया हुआ था वहीं पर उसकी मुलाकात नैना से हुई थी शुरू शुरू में तो नैना और विक्रांत की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे और ना जाने कितनी बार ये लोग एक दूसरे से भिड़ भी चुके थे साथ में काम करते वक्त भी विक्रांत और नैना की आपस में नहीं बनती थी लेकिन फिर धीरे धीरे ना जाने कैसे विक्रांत और नैना एक दूसरे को पसंद करने लग गए और अब दोनों एक दूसरे के बिना रहना भी पसंद नहीं करते ओह क्या सोचने लग गए नैना ने अचानक से विक्रांत का ध्यान खींचते हुए कहा जैसे डिनर खत्म होगा हम लोग तुरंत ही गाजियाबाद के लिए निकल देंगे जल्द से जल्दी केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है अरे आराम से आराम से अब हमारे पास बड़ी टीम है आराम से काम करेंगे तो भी हो जाएगा विक्रांत ने जवाब दिया तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट टीम है अब तुम भी आ गई हो रूही है हमारे पास तीन मेल और तीन फीमेल इन्वेस्टिगेटर्स हैं बिल्कुल परफेक्ट टीम बन रही है नैना ने तुरंत ही बात पकड़ते हुए कहा अरे हाँ तुम तुमने उस चोर को अपनी टीम में शामिल कर लिया भाई वाह तुमने तो कमल कर दिया अरे विक्रांत ने हड़बड़ाहट में खांसना शुरू कर दिया फिर उसने किसी तरह से अपना गला साफ करते हुए कहा अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है तुम उस लड़की से मिलना फिर देखना उसकी स्किल बहुत शार्प माइंड है इसलिए उसको टीम में लिया है वो हमारे बहुत काम आ सकती है हम्म नैना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तुम ज्यादा चलाक मत बनो ये मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं है मैं सब जानती हूँ सब पता है मुझे तुम उसके साथ बहुत मजे करते हो है ना बेबी तुम क्या बोल रही हो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या विक्रांत ने गेर के ऊपर रखा हुआ नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो अपने विक्रांत पर बेबी तुम्हारे आने के बाद मैंने आज तक किसी भी लड़की को उस नजर से देखा ही नहीं है मेरे अंदर तुम्हारे अलावा किसी और के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है अभी विक्रांत नैना को कन्विंस करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बज पड़ा उसे किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा हुआ था जब उसने व्हाट्सएप खोलकर ये मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर पसीना छा गया दरअसल उसे ये मैसेज एक्ट्रेस सामंता ने भेजा था सामंता ने विक्रांत के पास दो मैसेज भेजे हुए थे एक तो लगभग पचास सेकंड का वॉइस मैसेज था जबकि दूसरा वीडियो मैसेज था जब से विक्रांत वर्कला से लौटकर आया है तब से उसने एक बार भी सामंता से कोई बात नहीं की थी और उन दोनों के बीच वैसे भी कभी केस के अलावा किसी और टॉपिक पर बात भी नहीं हुई थी ऐसे में अब अचानक से उसका वॉइस मैसेज और वीडियो मैसेज देखकर वो बिल्कुल तंग रह गया वो भी सामंता का मैसेज ऐसे टाइम आया हुआ था विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा इस वक्त उसे अपने सामने सीधे मौत खड़ी नजर आ रही थी क्या है किसका मैसेज है मैंने सवाल किया दिखाओ मुझे ओह विक्रांत ने अपना फोन धीरे से जेब में डालते हुए कहा तुम कुछ छुपा रहे हो मेरे से नहीं दिखाना चाहते नैना ने अपना सिर हिलाते हुए सवाल किया नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं विक्रांत को लगा कि शायद ऐसा कुछ होगा नहीं सो उसने तुरंत ही नैना के सामने वीडियो प्ले कर दिया उस वीडियो में एक औरत नजर आ रही थी जो ड्रेसिंग टेबल के ठीक सामने बैठी हुई थी उस औरत ने सिर्फ नाइट ड्रेस पहन रखा हुआ था उसके बदन का आधे से भी अधिक हिस्सा खुला हुआ साफ नजर आ रहा था विक्रांत मनी मन सोचने लगा ये सामंता आज मुझे मारने का प्लान बना रही है क्या हालांकि वीडियो को कुछ सेकंड तक देखने के बाद ही अचानक से विक्रांत को समझ में आया कि वीडियो में नजर आ रही औरत सामंता नहीं बल्कि कोई और है हालांकि जो औरत वीडियो में नजर आ रही थी उसका चेहरा भी काफी जाना पहचाना सा लग रहा था मैं समझी नहीं प्रोड्यूसर साहब सोच क्या रहे आपको नहीं लगता की ये गलत है वीडियो में नजर आ रही औरत बेहद गुस्से लग रही थी उसने गुस्से से भरे लहजे में सवाल किया अगर इस तरह की फिल्म रिलीज होती है तब इससे मेरा नुकसान ही होगा प्लीज आप लोग किसी और से बात कर लीजिए मैं ये फिल्म नहीं करूंगी वीडियो में सिर्फ इतना ही क्लिप थी अचानक से वीडियो के बंद हो जाने के बाद विक्रांत शॉक्ट रह गया उसे समझ नहीं आया कि आखिर इस वीडियो में क्या चल रहा है ये क्या है नैना ने भी कंफ्यूज होते हुए विक्रांत से सवाल किया उसने भी गाड़ी को धीमा करके वीडियो को ध्यान से देखा था लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया ये ये औरत तो कुछ जानी पहचानी लग रही है हाँ मुझे भी जानी पहचानी लग रही है विक्रांत ने इतना कहते हुए सामंता का भेजा हुआ वॉइस मैसेज भी ओपन कर दिया विक्रांत सर ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है इसे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है सामंता की आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ रही थी मैनेजर गुलाटी वर्कला बीच वाले मर्डर केस पर फिल्म बनाना चाहता है और वो कई सारे एक्ट्रेस से बात करके इस फिल्म में काम करने के लिए कह रहा है सर अगर ये फिल्म बन गई तो सोचिए कितना बुरा होगा इसकी माँ का विक्रांत ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा उसे उम्मीद भी नहीं थी सामंता ने उसे यह खबर देने के लिए मैसेज किया है और दूसरी चीज उसे ये उम्मीद भी नहीं थी कि उसके पास साउथ की किसी फेमस एक्ट्रेस का वीडियो आएगा ये साला गुलाटी इसका कुछ तो करना पड़ेगा विक्रांत ने अपना दांत पीसते हुए कहा इतने लोगों की मौत हो गई है और ये साला इस पर भी फिल्म बनाकर कमाई करने की सोच रहा है इसको शर्म भी नहीं आती अगर इसने ऐसा कुछ किया तो फिर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं चाहे जो हो जाए तुमने उसके साथ जो किया सो किया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक बात मुझे कन्फर्म है तुम्हारा उस एक्ट्रेस के साथ कुछ न कुछ रिलेशन जरूर है नैना ने विक्रांत को चिड़ाते हुए कहा जिससे विक्रांत बिल्कुल लावाक रह गया बेवकूफ अपना चेहरा देखो कैसे बनाकर बैठे हो नैना चेहरे हंसते हुए कहा अच्छा अच्छा मेरी बेबी को सब कुछ पता है विक्रांत ने खुशी होकर नैना के गालों पर किस करते हुए कहा लगभग 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद ये लोग नैना के घर पहुंच गए हालांकि विक्रांत खुद को कंफर्ट में लाने की भरसक कोशिश कर रहा था लेकिन अब वो नैना के घर पहुंचा तो वहां पर वो अपने सामने मौजूद सभ्य लोगों को देखकर बिल्कुल दंग रह गया दरअसल उसने जो सोचा भी नहीं था वो उसने देख लिया था नैना का घर किसी राजा महाराजा की हवेली जैसा था घर के भीतर घुसते ही खूब बड़ा सा गार्डन और फिर उसके बाद वहां पर खूब बड़ा सा गार्डन गार्डन के बाद खूब बड़ा सा स्विमिंग पूल और फिर वहाँ सामने तकरीबन तीन मंजिला घर साफ नजर आ रहा था वहीं घर के एक तरफ बड़ा सा टेनिस कोर्ट बना हुआ था वहीं टेनिस कोर्ट के दूसरी तरफ पार्किंग एरिया था जहाँ पर काफी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी विक्रांत ने शायद आज तक इतना आलिशान घर कभी नहीं देखा था ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई नैना अपने एक हाथ से विक्रांत का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से घर के भीतर लेकर जा रही थी जैसे ये लोग अंदर पहुंचे वहां सामने से एक बेहद खूबसूरत अधेड़ उम्र का कपल आता हुआ दिखाई पड़ा जाहिर है कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि नैना के पेरेंट्स ही थे डैड मॉम नैना से दौड़ते हुए अपने पापा के पास पहुंची और उसने तुरंत ही विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए कहा मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में नैना ने फिर विक्रांत को इशारा करते हुए अधेड़ उम्र के कपल को दिखाते हुए कहा ये मेरे पेरेंट्स हैं मेरे मदर फादर इंट्रोडक्शन के बाद नैना को उम्मीद थी कि विक्रांत उसके पेरेंट्स का उनको पैर छूकर प्रणाम करेगा लेकिन कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी विक्रांत पत्थर की तरह तन कर उनके सामने खड़ा रहा